विद्वदगण तथा ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जनों माता सुना होगा तो पता चलता होगा कि जो बातें जो विषय उपस्थित है उससे संबद्ध है और ईश्वर धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि ज्ञान दे के कैसे करवाता है ये सब बातें आपने सुनी तो बात क्या है बात वही है कि जिस स्थिति में ईश्वर ज्ञान दे के हमको सब प्रकार की सहायता दे के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करवाता है उस स्थिति में हम स्वयं को नहीं ले जाते प्रयास नहीं करते ये इसमें कारण ज्यों का तो बना रहता है ये नहीं हो सकता कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और उपासना भी करें व्यवहार में उसके नियमों का पालन करें और वो स्थिति जैसे कि वेदों ऋषि के ग्रंथों में वर्णित है वो न मिले ईश्वर को समस्त पदार्थों का स्वामी मानना अपना स्वामित्व सब पदार्थों से हटा देना ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है एक विशिष्ट बाधक है ये स्वस्वामी संबंध और ये विशेष साधन है ईश्वर को सब कुछ का स्वामी मान के चलना इसके समझने में आवश्यक बातें हैं कि हम ईश्वर को स्वामी किन किन प्रयासों से प्रयत्नों से मान सकते हैं वो आपको बतलाया गया अब ध्यान देना है कि हम समस्त पदार्थों से अपना स्वामित्व हटाते हैं ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार करते हैं ऐसी स्थिति में हमारे क्या क्या दोष न्यूनताएं दूर होते हैं हमको क्या उपलब्धि होती है यदि हमको ये पता चले कि ईश्वर को स्वामी मानने से अमुक अमुक लाभ विद्या सुख बल आदि मिलते हैं तो हमारी रुचि होती है ये ये दोष दूर होते हैं अपना स्वामी तो हटाने में हम जब सफल होते हैं तो बहुत से दोष दूर होते हैं अब कुछ के ऊपर आप ध्यान दें कि जिस समय व्यक्ति ईश्वर को स्वामी मान लेता है अपना स्वामित्व तो हटा देता है तो किन किन गुणों की प्राप्ति किन किन दोषों का दूरीकरण होता है हमारे स्वभाव में बात दिखेगी जब हम या जीवात्मा इन पदार्थों का स्वामी स्वयं को मानता है धन संपत्ति बल विद्या जो भी उस समय स्वयं को स्वामी मानते ही उसके पश्चात उसके मन में बुद्धि में उन गुणों के कारण उन वस्तुओं का स्वामी बनने के कारण उसके मन में अभिमान उत्पन्न होता है ईश्वर को स्वामी मानते हैं तो अभिमान अभिमान के होने पर कितने दोष आते हैं कैसे कैसे आते हैं उसका ज्ञान करना चाहिए संसार में प्राय देखते हैं कि व्यक्ति जब ये देखता है मैं बहुत बड़ा हूं मैं बलवान हूं मैं धनवान हूं मैं बहुत कुछ संपत्ति का मालिक हूं और यदि मैं ऐसा ही बनता चला जाता हूं अनेक वस्तुओं का स्वामी बनता चला जाता हूं बल का धन का विद्या का स्वामी बनता चला जाता हूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा ऐसा व्यक्ति मानता क्या समझ में आया एक तो व्यक्ति अपने आप को जब स्वामी मानता है मालिक मानता है तो उसके साथ तत्काल अभिमान उत्पन्न होता है बल हो धन हो विद्या हो और जो भी कुछ जैसे अब उल्टा करें इसको आप उसके पास बल नहीं है इतना उसके पास धन भी नहीं है इतना उसके पास विद्या भी नहीं है जनशक्ति भी नहीं है उस समय अपनी स्थिति को देखता हुआ ए, उसके अंदर ये बात आती है मैं बहुत बड़ा हूं मैं बहुत बड़ा बलवान हूं आदि आदि वो भाव नहीं उभर पाएंगे ये अलग बात है संस्कारों के बल पर जो पहले से पड़े हुए संस्कार होते हैं उसमें वो ऐठ बनी रहे बिना ही कारण के जैसे होता है कई बार परंतु बहुत कम वो संस्कारों के बल पर जो होती है और उसी व्यक्ति के पास आज बल इतना नहीं धन नहीं विद्या नहीं तो और धन और बल और ये चीजें बहुत बढ़ जाए तो ए, क्या आप देख सकेंगे क्या अभिमान मंत्र आएगा नहीं आएगा ये देखो आप फिर से सुनिए धन संपत्ति विद्या आदि बढ़ने पर और उनके न बढ़ने पर अभिमान में न्यूनता अधिकता आएगी या नहीं आएगी कब अधिक बढ़ेगा अभिमान हाँ जी जब वो अपने आप को स्वामी मानेगा हाँ और जैसे जैसे वो अपना स्वामित्व हटाता जाता है वैसे वैसे अभिमान न्यून होता जाता है और ये जो बात आती है जो मैं और मेरे का जो संबंध जुड़ता है इससे क्या दोष आते न्याय दर्शनकार ने तीन दोषों में राग द्वेष और मोह देशाम मोह पापियान आगे न अमूढ़ इतरो उपपत्ते है उन राग और द्वेष तीन दोषों में से मोह जो भयंकर पाप है और यदि वो नहीं होता जब नहीं होता मोह अज्ञान से कहीं कहीं पर्यायवाची भी होते हैं और कहीं कहीं अविद्या से ममत्व उत्पन्न होता है इतना अंतर होता तब वो नहीं होता तो वहां राग और द्वेष नहीं होते मोह नहीं होता तो राग और द्वेष नहीं होते और आप देखेंगे जब राग और द्वेष नहीं होते तो जिस उस जो शांति होती है अंत स्थिति में वो राग द्वेष के होने से कभी नहीं होती देखेंगे जब हम स्वामी बन के चलते हैं तो वस्तुएं बल विद्या जो कुछ हमारे पास में है उसके साथ हम संबद्ध होकर चलते हम के स्वामी हैं उसमें डर बहुत लगता है अच्छा एक मोटा सा एक उदाहरण लेके चलो हुँ? हम्म? बहुत बड़ी संपत्ति भूमि धन और किसी ने हमको दान में दे दिया बहुत बड़ा संपत्ति है धन भी है पता नहीं उस समय से पहले जब हमने उसको नहीं लिया था उसमें जो हमारी स्थिति थी और लेने पर जो हुई है उसमें अंतर देखो आप क्या समझ में आया बात दोहराती रही क्या कहा जा रहा जब वो संपत्ति नहीं थी करोड़ों रुपए की हमारे पास में तब और अब कहा कि आपको ये दान में दे दिए ऐसा माने उसमें अंतर देखो आप क्या अंतर आएगा बताओ फिर नहीं आपको समझ में आया तो सुनो जिस समय ये स्थिति बनेगी मेरा हो गया है और मुझे मिल गया उस समय एक एक चप्पे चप्पे पर दौड़ लगाता ये नष्ट होगा तो कैसे बचाऊं किसको क्या रुखवाला बैठाऊं किसको क्या करूं मैं ये संपत्तियां नष्ट होगी वो उसकी कहते ना धुकड़ फुकुड़ वो इतनी तीव्र हो जाएगी इतनी तीव्र हो जाएगी भूख और प्यास और नींद और पता नहीं कहा जाएंगे और उसे पहले नहीं दिए समझ में आया यह नहीं होगी हाँ आप करके देख लो कभी जैसे वो स्वामी बनता है बड़ी लंबी लोग कहते बड़ा सुखी हो गया ये तो इसको एक करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई ये तो आनंद ही आनंद है सभी कहते ये करोड़पति बन गया और <laughs> धनजी भाई समझ में आ रहा है धनजी भाई तो समझने में तो माता जी से आ गई होंगे शायद तो उसमें आप देखेंगे कि लोग कहते बड़ा सुखी है बड़ा सुखी है अब उसको ये पता नहीं कितना दुखी हो गया ये मिलने पर जब पहले रोटी खा के सो जाता था तो कपड़े पहनता था चाहे तो रक्षा चलाने वाला भी क्यों ना हो और देखा जाए ना एक स्थिति में जितना सुखी पहले था उससे अब उत, क्या हो गया उतना सुखी नहीं रहा दुख बढ़ गया दुख बढ़ता जाता है परंतु संतुलन रखना चाहिए इसका ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए हम दरिद्र बन जाए कुछ भी न करें हम स्वामी के रूप में उसकी धन संपत्ति कमाए नहीं इसका यह अर्थ नहीं वो धन संपत्ति कमाता है अगर के साथ जोड़ो बहुत कमाता है न्याय से कमाता है और उसमें खूब दान देता है पुरुषार्थ के चार भेद क्या बोलो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त का रक्षण और रक्षित को बढ़ाना और बढ़े बड़े पात्रों में ये ये स्थिति होगी उसकी और वो ईश्वर का मान के चलेगा तो कोई बंधन होने वाला नहीं है आगे बढ़ता जाएगा तो अब वर्तमान काल में जो संपत्तिशाली है बड़े बड़े देश हैं आप जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में सोना चांदी के क्षेत्र में जो जो भी ऐसे हैं अरबपति जो सभी लोग ऐसे देखते हैं ये बहुत सुखी है और हमको ऐसा बनना चाहिए जिस किसी प्रकार से ऐसा बने हम अब व्यक्ति संपत्ति से अपना स्वामित्व हटाता जाता है बल से अपना स्वामित्व हटाता जाता है विद्या से भी अपना स्वामित्व हटाता जाता है वो उतना उतना कितना हल्का फुल्का होता जाता है और उसकी स्थिति कितनी दूसरे प्रकार की होती है जैसे भार उतर रहा हो बंधन कट रहे हो जैसे ईश्वर को स्वामी मानने से बंधन छिन्न भिन्न होते जाते हैं टूटते जाते हैं और दूसरी ओर से देखना ईश्वर उसको पूरी सहायता देता है वो सहायता दूसरे लोगों को नहीं मिलती जो उस व्यक्ति को मिलती है हम ईश्वर की सहायता को दो विभागों में विभाजित कर लेंगे तो एक विभाग है कि पूरी सृष्टि ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है हम जीवित हैं हम सुरक्षित हैं उसमें चाहे कोई व्यक्ति धार्मिक हो अधार्मिक हो चाहे चोर भी क्यों न हो और पशु पक्षी सभी जीवित हैं सुरक्षित हैं और हमें अपने जीवन में उससे स्थित यात्रा कर रहे हैं कार्यकलाप सब कुछ करते हैं हम यदि ये ईश्वर हमको सहायता में देवे ये जो मैंने बतलाई तो हम एक क्षण भर जी नहीं सकते कुछ भी नहीं कर सकते जी नहीं सकते इस बात को ऋषियों ने जो समझाया कोई एव अन्यात प्राण्यास यदि ऐसा आकाशो आनंद है शास्त्र का यह भाव वाक्य है कि कौन व्यक्ति जी सकता है कौन प्राण ले सकता है यदि आनंद स्वरूप ईश्वर ना हो तो ये पर्याप्त बताया वो क्या जानते हैं कि यदि व्यक्ति ईश्वर को इस रूप में समझ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा ईश्वर के साथ संबद्ध होकर के वो कृत कृत्य हो जाएगा वो यही बात बताते अब आज की तुलना में आज विश्व का जो दिमाग बना है भौतिक विज्ञान से और भोगवाद से वो ठीक ऋषियों से उल्टा दिमाग व्यापक रूप में तीव्र गति को आगे तीव्र गति को उत्पन्न करता है इस मान्यता में ये जो लोगों की जो मान्यता बनी कि धन संपत्ति भौतिक विज्ञान इतना बढ़ता जाएगा ये आगे बढ़ते बढ़ते हमको कृतकृत्य बना देगा परिणाम ठीक उल्टा दिखता है जैसे जैसे भौतिक विज्ञान बढ़ता जाता है धन संपत्ति बढ़ती जाती है और ये साधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति जो है उसका दुख बढ़ता जा रहा है क्लेश बढ़ते जा रहे हैं आचरणहीनता बढ़ती जा रही है कोई धर्म कर्म नहीं कोई मर्यादा नहीं कि यहां ये न करो यहां न ये करो कोई धर्म नाम की चीज नहीं कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं कोई शुभ अशुभ की बात ही नहीं कर सकता ये स्थिति विश्व में उत्पन्न हो गई है अब आप यहां पढ़ते हैं और जो कुछ कर रहे हैं आप उसको यदि इतने ऊंचे स्तर पर नहीं करेंगे आप इतना ऊंचा स्तर नहीं बनाएंगे अपना चाहे शरीर स्वस्थ बलवान चाहे वो विद्या का योगाभ्यास का धर्माचरण का जो स्तर आप बहुत ऊंचा नहीं बनाएंगे तो समन रखना आप यहां जो कुछ पढ़ते हैं इन्हें ऊंचा नहीं बना दो ये जो भयंकर जो आक्रमण है ये आपको बस बाहर निकलते ही यहां से आपको उखाड़ के फेंक देगा ये वातावरण ये लोगों का व्यवहार ये लोगों की मान्यताएं ये चकाचौंध ये आपको पत्ते की तरह उड़ा के रख देगी या नहीं जस्ती ये बात निश्चित है और यदि आप खूब परिश्रम करते हैं पुरुषार्थ करते हैं शरीर से स्वस्थ बलवान है विद्या आपकी बहुत अच्छी है भौतिक विज्ञान में भी आपकी गति है आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए आगे कहेंगे हम आप समाधि में पहुंच गए मान के चले और उस स्थिति में अच्छी स्थिति आ गई तो आपको ये संसार उखाड़ नहीं सकता <laughs> हटा नहीं सकता आपके अंदर वो साहस निर्भयता वो वीरता भरी हुई होगी कि आप ये सारे संसार को <laughs> मैं यहां लाके खड़ा करूंगा जहां मैं चल रहा हूं ऐसा बनाऊंगा सब तो। इतना उत्साह उसके अंदर और वो डरता नहीं संकोच नहीं करता कि जैसे कि इनको देख करके बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखें पति को दीनहीन अपने आप को देखें आपने देखा होगा यद्यपि गुरुकुलों में बहुत पढ़ाया जाता है धार्मिक बनाया जाता है विद्या पढ़ाई जाती है बहुत कुछ हो रहा है अच्छा है वो परंतु ये योग विद्या अच्छी तरह न सिखानी से वो दीनहीन की स्थिति में आते हैं गुरु से निकलते दीनहीन देखते भागते हैं संसार की इतने दिन तक वहां नमक नहीं खाया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये टेलीविजन के नाच गाने हम तो लुट के खा गया संसार इतने दिन बीच बीच में <laughs> दस पंद्रह वर्ष लूट लिया ये तो सब कुछ यदि पहले से इस मार्ग को होते अच्छा होता या नहीं सोचोगे आप बताओ अपना अपना क्या सोचेंगे आप यदि आपने ऊंचा स्तर नहीं बनाया तो ऐसे ही सोचोगे जो जैसे बता रहा हूं लिखा है जैसा उपनिषदों में लिखा है वैसे ही बनेंगे हम और वैसा ही संसार को बनाएंगे हम क्या आप स्वामी जी एक बात रह गई आप कह रहे थे कि दो प्रकार की परमात्मा की हाँ वो वो बात छुटी हुई है एक बात तो मतलब हाँ, हाँ। सहायता का एक भाग ये है कि परमात्मा ने संसार हमारे लिए बनाया है और यदि वो हमें सहयोग न दे तो हम कुछ कर नहीं सकते हाँ जी नहीं सकते और दूसरा कुछ और कहना हाँ ये ठीक बात है हो सकता है दूसरी बात लगे लगे वो चली नहीं जाए बात दूसरी पुरानंद जी मोह में भाग जाते हैं अपने घर पर <laughs> तो उसमें दूसरा भाग है जो व्यक्ति ये ईश्वर प्रणिधान की पूरी पद्धति करता है जैसे आपको शिकाया बताया जा रहा सत्य विद्या सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते अभी जैसे सुनाया जा रहा सो स्वामी सम हटा देता जैसे मंत्र में पढ़ रहे थे ऐसी स्थिति उसकी होती है बस ईश्वर परिधान को पूरा ले लो ऐसा जो करता उसको जो विशेष ज्ञान मिलता है उसको जो विशेष बल मिलता है उसको जो विशेष आनंद मिलता है उसकी जो परमात्मा समाधि लगवाता है ये सहायता ये दूसरे लोगों को किसी को नहीं मिलती अब आया समझ में ये सहायता औरों को नहीं मिलती जैसे इस व्यक्ति को मिलती और ये सारे वैज्ञानिक इतना परिश्रम करते हैं ना वो जो ईश्वर की ओर से जो ये सहायता जो वो वैज्ञानिकों को नहीं मिलेगी वो उसकी उपासना नहीं करते वो स्वस्थ उस रूप में नहीं मानते स्वस्थ स्वामी संबंध नहीं हटाते